रे कटक माझ सुन वंगद मोसन भी रहे कवन जो धाबद तव प्रभु नारी बिरह ही नाय अनुजता सुदुख दुखी मलिना तुम सुग्रीव कुल द्रुम तुम दो अनुज हमार भीरियति सो जामवंत मंत्रियति बूढ़ा सो कि हो अब समरारूढ़ अरे अंगद सुन तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है मंत्री जाम्बवान बहुत बूढ़ा है वह जब लड़ाई में क्या चढ़ चढ़ उद्यत हो कर सकता है शिल्पी कर्म जाय नहीं नल नीला है कपि एक महाबल शीला आवा प्रथम नगर जय रहा सुनत वचन कह बाली कुमा सत्य वचन कहु नि चरणा सान् पुपुरदा रावण नगर अल्प दहे सुनि सचन सत्य सो कह नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं वे लड़ना क्या जाने हाँ एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिन्होंने लंका जलाई थी यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा हे राक्षस राज सच्ची बात कही क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा जो यति सुभट सराहे रावण सो सुग्रीव केरल लघुधावन चलय बहुत सो वीर न होए पठवा खबरे लेन हम सोए हे रावण जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है वह बहुत चलता है वीर नहीं है उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था सत्यनगर कपिजारो बिन आय सुपाए हिरण गयरु सुग्रीव पही तेहि भय रहा सत्य सत्य कहि दस कंठ सब मोहिन सुन कछ को कौन हमारे कटकयस तो सन लरत जसो क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा हे रावण तुम सब सत्य ही कहते हो मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए प्रीत विरोध समान सन करिय नीति यस आही जो मृगपति बध मेणु कन्हे भल की करय को यद्यपि लघुता राम कहो तो ही बदे बड़ दोष तद्यपि कठिन दस कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए नीति ऐसा ही ऐसी ही है सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है तथापि हे रावण सुनो क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है बक्रवोक्ति धनु बचन सर हृदयदह रिपुकीष प्रति उत्तर षडसि नमहो काढत भट दशीषं हसि बोलयु दश तब कपि करबुणये गु जो सुहित करय वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया और रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी शंसियों से निकाल रहा है तब रावण हंसकर बोला बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है